بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لك الحمد يا الله خلقتنا وهديتنا وأنقذتنا من النار असलातम या रसूल अल्लाह लकब बल्लतर रिसाला व अद्दतल अमाना व नसाहतल उम्मा व महत जुल्म वारशतना इल सुन्नत वल जमा सल्लल्लाहु अलैहि व आला आलिका व असहाबिका अजमाइन أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا सल्लु अलैहि वसल्लिम तस्लीमा अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन नबदा على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك खैर खल के कुल्ले अल्लाह तबारक व ताला जल्ला जलालू व अम्मा नवालू व तम बुरहान व आजमा शानू की हमदो सना और हजूर पुरनूर शाफ यम नशूर दस्तगीर जहां गम गुसार जमां सैद सरवराम हामी बेकसाम कायदुलमरसलीम ख़ातमनबीन अहमद मुशतबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला वसहाबी वबारक वसलम ये दरबार गहर बार में हरिय दरुदसलाम अर्ज करने के बाद नहायत ही मुआज़ व मोहतशम हजरत ख़वान और सामीन व नाजरीन रबाल के फजल और तोफीक से माह रमदान मुबारक के तीसरे जुमातुल मुबारक में अशराय मगफरत के अरूज में हम सबको आज नहायत ही तारीखी इनकलाबी फिक्री और ईमानी मौजू पर गुफ्तगु सुनने की सादत हासिल हो रही है मेरी दुआ है खाल के कायनात जल्ला जलालू सबको कुरान सुन्नत का फाहम अता फरमाए और कुरान सुन्नत के बलाव तबलीग और इस पर अमल की तोफीक अता फरमाए हमारे मौजूद का एक सिलसिला जो साल हा साल से चल रहा है मफहूम कुरान बदलने की वारदात आज उसकी नमी किस्त है और इन तबारक वाली ये बजरिया इंटरनेट अभी अगरचे दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में सुनी जा रही है इसके बाद जिस तरह के इसके पहले वालियम अतराफो अकनाफ आलम में पहुंचे हैं इन शब्बुलजलाल कलम हक को तासीर अता फरमाएगा और ये दूर दराज तक इंसानों को गुमराही से बचाने के लिए किरदार अदा करेगा मफहूम कुरान बदलने की वारदात के मौजू से आप यकीन मुतारफ हैं कि इस मौजू में वो आयात पेश की जाती हैं कि जिनको लोग पस मंजर से हटा के पेश करते हैं और अपना गलत मतलब निकालने की कोशिश करते हैं तर्जमा अगरचे सही हो मगर मफहूम गलत निकाला जाता है तो हमारा उस वारदात को रोकने के लिए ये एक मुस्तकिल सिलसिला है तो आज जो आयत करीमा हम पेश कर रहे हैं वो बड़ी मारूफ आयत करीमा है और उसके स्टिकर भी काफ़ी तादाद में छपवाए जाते हैं मगर उनका रुख और मफहूम गलत निकाला जाता है ये शुरू से ईमान वालों की सदा है हसबुन अल्लाह वनमल वकील कि अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है बल्कि जिस वक़्त हजरत इब्राहिम आसमाम के लिए आग जलाई गई थी और वो आग में तशरीफ ले जा रहे थे उस वक़्त भी वो यही नारा लगा रहे थे हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है आज के इस मौजू में मेन दो बातों को हमने साबित करना है और वो कुरान मजीद से साबित करना है और उसके बाद जिमनन चंद अहादीस भी पेश कर दूंगा कि जितनी भी आयात इन अल्फाज के साथ हैं वो सूरह जुमर की हो सूरह तौबा की हो आल इमरान की हो इसके अलावा जहां भी वो सारी आयात हम पढ़ेंगे और उनका जो उसलूब है उसको माकबल से वाजे करेंगे और ये साबित करेंगे कि कहीं भी हसब अल्लाह या हसब अल्लाह ये आयात जो है इनको रब जलाल ने इस पस मंजर में नाजिल नहीं किया कि इनसे मुराद अल्लाह ताला के वलियों की मदद की नफी करना हो या अल्लाह तला के अम्बिया कराम अलमसलाम की मदद की नफी करना हो एक बात यह बयान करना लाजिम है कि जो मकसद इन आयात को पढ़ के आज के कुछ लोग लेना चाहते हैं यानी वो ये आयात हिंदुओं के पास जाके नहीं पढ़ते हमारे पास पढ़ते हैं और इस माहौल में और इस अंदाज में पढ़ते हैं कि जिस वक्त तुम रसूल अल्लाह वसल्लम की बात करो तो वो कहते हसबुन अल्लाह हमारे लिए अल्लाह काफी तो मतलब क्या हुआ कि उन्होंने आयत का रुख इस तरफ किया कि इस आयत में नफी इस चीज की है कि रसूल अल्लाह वसल्लम की कोई जरूरत नहीं और अल्लाह हमारे लिए काफी यह गलती जो है कि इन आयात का रुख नबी असलाम की तरफ करना अम्बिया किराम सलाम की तरफ करना सहाबा किराम की तरफ करना अहल बैत अतहार की तरफ करना अलिया की तरफ करना ये गलती है कुरान मजीद में कहीं भी इन आयात का जो उसलूब है उसका नजूल औलिया अम्बियाम के लिहाज से नहीं है बल्कि ये आयात खाल के कायनात ने बुतों के मुकाबले में और बुतों के मानने वालों के मुकाबले में नाजिल फरमाई है दूसरा हमने इस बात को साबित करना है इंशाला कि रब्बुल जलाल को ये पसंद है कि उसके बंदे बंदों की मदद करें और ये अल्लाह के कुरान की तालीमत है कि खालके कायनात ने अपने बंदों को भी बंदों के लिए काफी कहा है और इस बात को वाजे किया है कि जिस रब के बंदे ऐसे हों उस रब की अजमतों का आलम क्या होगा यानी हमारे मुखालफी जो उन्होंने उल्टा रंग दे दिया कि जिनको रब्बे जलाल जिनकी पावर को जाहिर करना चाहता है इन आयात के अंदर उन्होंने उन्हीं की पावर को मिटाने के लिए आयात पढ़ना शुरू कर दी और जिनकी पावर के खिलाफ अल्लाह ने ये आयात नाजिल की है उनके लिहाज से इन आयात को पढ़ ही नहीं जाता लिहाजा आज हम इन आयात को पढ़ के जो कुरान से इनका पस मंजर नजर आ रहा है और आयात के अल्फाज जिस बात को बयान करते हैं उससे हम साबित करेंगे कि ये शुरू से सिरात मुस्तकीम इन आयात के लिहाज से रब्बुल जलाल ने हमें ही अता फरमाया है सबसे पहली बात कि ये आयात अल्लाह तबारक वाली ने कुफार के मुकाबले में और बुतों के मुकाबले में नाजिल की है इनको हजरत सिद्दीक अकबर के मुकाबले में नाजिल नहीं किया गया कि उनसे किसी ने ताउन चाहा हो तो अल्लाह ने आयत नाजिल कर दी हो कि इसको छोड़ो मैं काफी हूं या रसूल अल्लाह से किसी ने ताउन चाह हो तो ये आयात नाजिल की गई हूं कि अल्लाह ताला ने फरमाया उनको छोड़ो मैं काफी हूं ऐसा हरगिज नहीं है जब भी ये आयात नाजिल की गई जहां जहां उतरी है तो खाल के कायनात ने वहां ने अपने दुश्मनों के मुकाबले में इन आयात को नाजिल फरमाया है मिसाल के तौर पर सूरह आल इमरान में यह आयत जहां पर है तो उसका माकबल यह है कि जिस वक्त सैयद आलम नूर मुजस्म शफी मुजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गजबा ओहद से वापसी पर अबू सुफियान जो उस वक्त मुसलमान नहीं थे उनका चैलेंज कबूल किया था उन्होंने कहा था कि अब हमारी तुम्हारी मुलाकात बदरे सुगरा में होगी तो हमारे नबी सलाम ने बोला ठीक है हम भी आएंगे पता चल जाएगा अबू सुफियान अगले साल बदरे सुगरा की तैयारी न कर सके और उन्होंने फिर यह महसूस किया कि अगर हम ना गए और वो आ गए तो उनके हौसले तो बड़े बढ़ जाएंगे लिहाजा उन्होंने मनसूबा बनाया कि मुसलमानों को घर में ही डराया जाए ताकि वो भी ना हम मजबूर हैं कि हमारे पास बंदोबस्त नहीं हो सका कि हम जाए और अगर बदरे शुभ रात में मुसलमान आ गए हम ना हुए तो उनके तो हौसले बड़े बढ़ जाएंगे लिहाजा मदीना शरीफ की आबादी का एक इंसान मक्का शरीफ में गया हुआ था जिन्होंने भी उस वक्त कलमा नहीं पढ़ा था बाद में पढ़ लिया नहीं बिन मसूद उनको अब उस सुफियान कहने लगे कि तुम दस ऊंट हमसे ले लो और मुसलमानों को इतना डराओ हमारी तैयारी बयान करो कि मक्का वाले तो फौजें इकट्ठी करके तुम्हारे मुकाबले में आ गए हैं और बदरे सोना से तुम्हारा कोई बंदा बच के वापस नहीं आ सकता अगर वो मक्का शरीफ वाले तुम्हारे घर आके अहजाब में तुम्हें वो नुकसान बल्कि इससे पहले उहद में पहुंचा चुके हैं तो वहां अगर तुम बदरे सुबरा में जाओगे तो बड़ा ही तुम्हारा नुकसान होगा लिहाजा कभी भी कुरैश के बारे में उनके खिलाफ जंग का ना सोचो नहीं बिल मसूद मदीना शरीफ आ गए और उन्होंने आके डराना शुरू किया अल्लाह काला रहमन्नास इन नासा का जमाउल हकुम फख्शाओ फजाद हम ईमाना वकालू हसबुन अल्लाह वनेमल वकील ये आयत का पस मंजर है अल्लाजीना काल अलहमुल्लास वो लोग जिनको लोगों ने कहा इन नासा का जमाउलकुम कि तुम्हारे लिए लोग इकट्ठे हो गए हैं अब अल्लाह जी ने से मुराद है नबी सलाम और सिहाबा और पहले अन्नास से मुराद है नईम बिन मसूद और दूसरे अन्नास से मुराद है कुरैश मक्का कि वो लोग जिनको आके नईम बिन मसूद ने बताया कि क्रैश मक्का पूरी तैयारी करके तुम्हारे लिए इकट्ठे हो गए हैं फर्श हम उनसे डर जाओ उनसे लड़ने का सोचो भी नहीं अल्लाह फरमाता है मेरे वो बंदे जब उनको डराया गया तो क्या हुआ डर गए अल्लाह फरमाता नहीं ज्यादा हम ईमाना उनका ईमान पहले से भी जोश मारने लगा यानी ये शुरू में इस्लाम के अंदर ये अल्लाह ने हैसियत रखी है कि जितना कुछ दबाने का कोशिश करे ये उतना उभरता नईम बिन मसूद आ गया उसने आके बड़ा लेक्चर दिया कि देखो बड़ा जानी नुकसान होगा माली नुकसान होगा बदरे सूरा की तरफ जाने का तुम ना सोचो वो यहां आके मदीना शरीफ में तुम इतना नुकसान दे गए हैं बदरे सुगरा में तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे इस वास्ते वहां जाने की कोशिश ना करो जब उन उसने पूरी तबलीग और अपना लेक्चर पूरा किया तो सैयद आलम वसलम के गुलामों ने जज्बों का इजहार किया और जल्दी निकलने की कोशिश की फजाद हम ईमाना अल्लाह फरमाता है वो तो बढ़ गया जो गए ईमान के यानी अंदाज था उनका कि वो वक़्त जिस वक़्त बाद की जंगों में अब तो नबी इस्लाम पास है जब रुस्तम के मुकाबले में इस्लामी शेर निकले थे तो इस्लामी सिपा सालार ने कहा था रुस्तम सीधा हो जा अगर तू नहीं मानेगा तो मेरे पास वो फौज है इतना तुम्हें शराब नोशी से प्यार नहीं जितना हमें अल्लाह के रस्ते में लड़ने से प्यार है फारसी लोग इतनी शराब इस अंदाज से चाहत से नहीं पीते जितना हम शहादत के घूट प्यार से पीते हैं इस बात से अगर तुम सीधे नहीं होगे तो हम तुम्हें मार मार के सीधा करेंगे ये कौम जो बाद में भी इतनी लड़ने वाली और बहादरी वाली थी अभी तो नबी सलाम के साथ हैं जब ये पता चला मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले यह बयान कर दिया वल्लजी नफ्स मोहम्मद बेयादे ही मुझे उस रब की कसम है जिसके कब्जे में मैं मोहम्मद की जान है लाखरो चन्ना इलेम बलो वह दी पर मैं अगरचे मुझे तनहा जाना पड़ा मैं फिर भी जाऊंगा ये सहाबा में से बतौर फर्ज कोई भी तैयार ना हो वह दी मैं अकेला जाऊंगा नहीं बिन मसूद मुगालते में ना रहना हम छोड़ेंगे नहीं हमने चैलेंज कबूल किया था वो सुफियान का लिहाजा हम निकलेंगे हम जाएंगे और ये मेरे महबूब सलाम की वो बेमिसल शुजात है अगर वो अकेले निकल आते तो उन अकेले का मुकाबला भी सारे कुरैश ना कर सकते और ये तो ये सहाबा को शर्फ देना था जो साथ उनको मिलाया और उनको रखा और ये साबित करना था कि अल्लाह भी काफी है और अल्लाह के बंदे भी काफी है अब जिस वक्त सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हम निकलेंगे हम रहेंगे नहीं अल्लाह दीना कालास इन्नास कब जमाउलाकुम बंदे तुम्हारे लिए इकट्ठे होकर बैठे हैं तुम्हारे इंतजार में कि कब से अब्बा आते हैं फजाद ईमाना इनका ईमान बढ़ा और साथ नारा क्या था कालू हसबुन अल्लाह वनेमल वकील इनका अल्लाह हमारे लिए काफी है और वो बेहतर कारसाज है अब ये उन्होंने जो जुमला बोला जिसको आयत बनाया गया तो मुकाबला किससे था मुकाबला कुरैश मक्का से था कि जब नईम बिन मसूद ने आके डराया कि वो फौज बड़ी है तैयारी उनकी बड़ी है उनको अस्करियत में महारत बड़ी है और इलाका उनका बनता है तुम ना जाओ तो इन्होंने किसके मुकाबले में कहा नबी सलाम ने क्या किसी वली का तस्करा हो रहा था किसी नबी का तस्करा हो रहा था किसी से सियादी से मदद का तस्करा हो रहा था मेरी कुरैश के साथ टक्कर की बात हो रही थी काफिरों और कोई बुद्धों का तस्करा हो रहा था तो उसके मुकाबले में सरकार ने गुलामों को साथ लेते हुए कहा हसबुल्लाह वकील हमारे लिए अल्लाह काफी है और बेहतर साज है अगर इससे मुराद मुस्लिम की मदद का इनकार होता तो सिहाबा बिल्कुल निकलने को तैयार ना होते कहते नहीं बिन मसूद के जवाब में तो आपने कहा अल्लाह काफी है तो पैगंबर हमें फिर साथ क्यों ले जाते हो अल्लाह का भी है हमें यही रहने दो लेकिन सहाबा ने नहीं कहा उनको पता है कि अल्लाह के काफी होने का मतलब क्या है अल्लाह ऐलान करता है इन्ना नहनु नजल जिक्रा व इन्ना लहू हाफिजून हमने कुरान नाजल किया हिफाजत हम करने वाले हैं तो अपने हाफजों से करवाता है ना उसकी शान है अपने हाफजों से करवाता है उनको कुरान देकर तो इससे अल्लाह की हिफाजत की नफी तो नहीं होती मतलब यह है कि अल्लाह असबाब से करवा देता है मदद उसकी होती है करवा अपने बंदों से देता है अब देखना पहली आयत में पढ़ रहा हूं कि जिसमें पस मंजर यह है कि यहां हसबुन अल्लाह किसी नबी के मुकाबले में नहीं पढ़ा गया किसी वली के मुकाबले में नहीं पढ़ा गया किसी सहाबी की मदद के मुकाबले में नहीं पढ़ा गया और ना ही उनकी मदद के नफी के लिए पढ़ा गया है बल्कि उनको साथ लेकर नबी सलाम निकले पहुंचे काफिर ना आए सिहाबा ने वहां पर तिजारत भी की मालो दौलत के साथ वापस लौटे फन कलाबू बेनेमा नेमत के साथ वापस आ गए तो पता चला कि ये आयत जो आल इमरान की हसबुल अल्लाह वकील इसका उसलूब जो है नजूल के लिहाज से जो कुरान मोयन कर रहा है वो ये नहीं है कि किसी वली का वहां पे मजार हो मदीना शरीफ के करीब और बंदे वहां पर जाते हो और अल्लाह ने हाथ नाजल की हो कि सरकार इनको रोको महबूब इनको उस वली के पास ना जाने दो इन्हें कहो हमारे लिए अल्लाह काफी है मैं पूरे वसूख से कहता हूं ऐसे किसी मजार पर जाने की बात नहीं थी काफरों के खिलाफ लड़ने की बात थी दूसरे नंबर पर खाल के कायनात जल्ला जलालहू ने इर्शाद फरमाया ये ग्यारहवें पारे में कि सैयद आलम नूर मुजस्म शफी मुजम सल्लम की सिफात अल्लाह ने बयान की लकत जाकुम रसूल मिनफुसकुम अजीज तुम हरीस अलीकुम बिलमिन रऊफ रहीम ये सिफतें बयान की और इसके बाद क्या किया मतलब यह है कि तुम्हारे पास मेरे वो महबूब आए हैं कि तुम्हारी तकलीफें उनसे बर्दाश्त नहीं होती तुम्हारी बेहतरी के खैर खा है रूफ भी है रहीम भी है तुम्हारी बेहतरी चाहते हैं हरीफ है तुम्हारी बेहतरी के इसके बाद अल्लाह ने फरमा फैन तवल्लो फकुल हसबी अल्लाह अगर वो ना माने तो महबूब कह दो मेरे लिए अल्लाह काफी है सूरह तौबा की आखिरी आयत ग्यारहवें पारे के अंदर फैन तवल्लो फकुल हसबी अल्लाह अगर वो फिर जाए तो कहो कि मेरे लिए अल्लाह काफी है अब फिर जाने वालों के मुकाबले में कहा गया अगर वो फिर जाए अबू जाल नहीं मानता उतबा नहीं मानता शाबा नहीं मानता मेरे महबूब इनको कहो कि मेरी नबूबत के सतून तुम नहीं हो मेरे लिए अल्लाह काफी है इन तमन्नो अगर वो फिरे तो कुल हसबी अल्लाह मेरे लिए अल्लाह काफी है अब यहां पर यह आयत पढ़ के मेरे नबी ने यह नहीं कहा कि अबू बकर सिद्दीक आज के बाद तुमने मेरे साथ तावन नहीं करना मुझे अल्लाह ने कह दिया है कि ये कोई बंदा करीब ना आए मैं काफी हूं हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तला को रबुल जलाल ने रोका नहीं है कि सरकार ने आज पढ़ी हो कि फारूक तुम घर बैठो अल्लाह ने कुरान नाजिल कर दिया है कि मैं काफी हूं नहीं नहीं आयत पढ़ी गई अबू जान के मुकाबले में आयत पढ़ी गई उतबा के मुकाबले में आयत पढ़ी गई शहबा के मुकाबले में ऐस पड़ी गई ना मानने वालों के मुकाबले में कि रब सुल जलाल ने वाजह कर दिया कि महबूब अगर ये फिरते हैं ये नहीं मानते और फिर उसलूब कैसा है फरमा इतने प्यारे महबूब को भी नहीं मानते कि जिसकी शान ने हमने बयान की कि रऊफ भी है रहीम भी है इन्हें मानना चाहिए था क्योंकि पहले आयत ये है फरमाइन तमन्ना अगर ये नहीं मानते मेरे महबूब इनको कहो तुम दफा हो जाओ मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं मेरे लिए मेरा रब काफी है फकुल हसबी अल्लाह से पहले शर्त है और जजा और शर्त का तर्जमा मिला के किया जाता है कहा जाता है अगर तू आएगा तो मैं भी आऊंगा अगर तू खाएगा तो मैं भी खाऊंगा अगर तू लिखेगा तो मैं भी लिखूंगा अब मैं लिखूंगा तल्लुक तू लिखने के साथ होगा मैं आऊंगा इसका तल्लुक तेरे आने के साथ होगा तो शर्त है इन तवल्लाओ अगर कुफारे मक्का फिर जाएं और तुम्हारी बात ना माने महबूब उनको कह दो मेरे लिए अल्लाह काफी है ये दूसरी आयत जिसमें खाल के कायनात जल्ला जलालहू ने इस बात को वाज तौर पर बयान फरमा दिया कि यहां पर मामला किसका है और किस अंदाज में उनके साथ गुफ्तगु की जा रही है फिर सूरह जुमर के अंदर कुल अरई तुम नातदून मिंदू मिल्ला है असराई तुम नातगून मिलजून इन अराद बेदुर हल हूं नकाशिफा तो दुर्र ही और अराद अनी बेरहमती हल हूं मुमसिका तो रहमती हल के कायनात फरमाता है ए कुफार मुझे बताओ तो सही कि मुझ पर अगर अल्लाह मुझे नुकसान देना चाहे तो क्या तुम्हारे बुद्ध मुझे उस नुकसान से बचा सकते और अगर अल्लाह मुझे रहमत देना चाहे तो क्या तुम्हारे बुद्ध उस रहमत को रोक सकते हैं तो वो सारे चुप थे बोल नहीं रहे थे आपने फरमा बोलो अगर रब मुझे नुकसान देना चाहे तो क्या तुम्हारे बुत मुझे नुकसान से बचा सकेंगे और अगर रब मुझे फायदा देना चाहे तो क्या तुम्हारे बुत उस फायदे को रोक सकेंगे जब उनकी तरफ से यह जवाब था अपने सबूत में कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते अल्लाह देना चाहे ये रोक नहीं सकते और अल्लाह तबारक वाली की तरफ नुकसान आना चाहे ये उसको रोक नहीं सकते और अल्लाह देना चाहे ये बंद नहीं कर सकते तो अल्लाह ने फरमा मेरे नबी फिर इनसे कह दो कुल हसबी अल्लाह मेरे लिए फिर रब काफी है मतलब क्या था मुझे तुम अपने कमजोर खुदाओं से डराते हो जो इतने कमजोर हो मैं उनसे क्यों डरूं कि रब देना चाहे रब मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तुम्हारे खुदा तुम्हारे मबूद उस नुकसान को पीछे न हटा सके और अल्लाह मुझे नवाजना चाहे तुम्हारे वक्त उस रहमत को रोक ना सके तो ये नहत कमजोर साबित हुए तो फरमाया जो इतने कमजोर हो उससे मुझे डराते हो हालांकि मेरा रब तो कुदरतों वाला है तो यहां पर हसबी अल्लाह का मुकाबिल कौन आया कुफारे मक्का उनके बुत और बाकायदा तस्करा हुआ कि ये जो तुम जियत देते हो इनकी मेरे सामने कोई हैसियत नहीं है अल्लाह देना चाहे मुझे रहमत ये रोक नहीं सकते और बतौर फर्ज ये कहा कि वो नुकसान पहुंचाना चाहे तुम्हारे बुत जो है ये नुकसान से मुझे बचा नहीं सकते इतने कमजोर है तुम्हारे बुत लिहाजा मैं इनका नहीं मेरे लिए मेरा रब काफी है तीसरी आयत जो है वो भी बुतों के मुकाबले में कुरैश मक्का के मुकाबले में और इसके सिवा और कोई ऐसा मामला नहीं था कि मुसलमानों ने कहीं किसी मजार को जाना शुरू कर दिया हो तो नबी सलाम नाराज हो गए हों कि तुम क्यों गए हो तुम्हें पता नहीं कि अल्लाह हमारे लिए काफी है ऐसा कोई मामला नहीं था ये तीन आयात इस सिलसिले की कड़ी आयात है और वो तीनों मैंने पढ़ी और तीनों का पस मैंने तो हमारे सामने बयान किया है और सिर्फ बयान ही नहीं कर रहा उस पर पैरा देने वाला हूं इन शाह आखिरी सांस तक यहां कोई दूसरी बात नहीं है यहां सिर्फ यह है जो कुरने मजीद में पहले मौजूद है कि बुतों के मुकाबले में और मुशरकिन के मुकाबले में अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब कह दो मेरे लिए अल्लाह काफी है चौथी आयत उसमें यह जिक्र है वही युरीदू यखदऊ का फिन हसबकल्ला अगर वो इरादा करें कि वो तुझे नुकसान दें तो मेरे पैगंबर इनसे कह दो कि मेरे लिए अल्लाह काफी है अगर वो धोखा देना चाहे क्या था कि एक ग्रुप था कुफार का वो सुलह का नारा लगा के दुश्मनी करना चाहता था बजायर सुलह का ऊपर से पैगाम आ रहा था और अंदर से दुश्मनी थी तो खाल के कायनात जल्ला जलालहू ने फरमाया ये धोखा देना चाहते हैं इनको कहो मुझे धोखे ना दो मेरे लिए अल्लाह काफी है तो ये चौथी आयत भी साबित हुई कि ये भी मुसलमानों के लिहाज से नहीं अल्लाह के बलियों के लिहाज से नहीं बल्कि ये आयत भी कुफार के मुकाबले में है कि खाल के कायनात जल्ला जलालहू ने फरमा दिया है कि मेरे नबी इनको वाजे कर दो कि मेरे लिए मेरे अल्लाह काफी है अब यहां पर यह पहला मैंने आपके सामने व्यो रखा आयात को पढ़ के कि जिनमें माकबल में जो जिक्र है वो है कुफार का वो है मुशरकिन का अगर इन आयात को उठा के आज कोई मोमिनों के मुकाबले में पढ़ता है तो वो कुरान मजीद का गद्दार है कुरान मजीद का खाइन है अगर ये आयात जो अबू जाल के मुकाबले में पढ़ी गई है अगर इनको कोई दाता साहब के मुकाबले में पड़ता है तो कायनात का सबसे बड़ा झूठा है और जालिम है ये आयात जोतबा शैबा और मुशरकिन मक्का के खिलाफ पड़ी गई हैं अगर इनको नबी अलैहिस्सलाम के मुकाबले में कोई लाके पड़ता है कि लोगों पैगंबर की कोई जरूरत नहीं अल्लाह काफी है तो वो पुराने मजीद के माने पे वारदात कर रहा है मैं अभी इसी कुरान से बयान करूंगा कि रब्बे जुल जलाल ने अपनों की मदद को अपना फजल करार दे दिया है केवल इसके लिए बयान करूं वो आज भी सुन लो जो जुमर में है अलई सल्लाह काफी नब्दा क्या बंदे के लिए अल्लाह काफी नहीं है तो मतलब क्या अल्लाह काफी है और किसी की जरूरत नहीं किसकी जरूरत नहीं हुबन की जरूरत नहीं लात की जरूरत नहीं मनात की जरूरत नहीं अबूजाल की जरूरत नहीं अगर कोई ये शख्स कहे कि अल्लाह काफी है का मतलब यह है कि पैगंबर की भी जरूरत नहीं तो फिर नबी के नाम के बगैर मोमिन बन के दिखाए तो सही तो जिनके नाम के बगैर ईमान ना मिल सके उनकी जान के बगैर जन्नत कैसे मिल सकती है अली सल्लाह काफी अब्दा क्या अल्लाह काफी नहीं है अल्लाह काफी है किसके मुकाबले में भुतों के मुकाबले में ताबूत के मुकाबले में और अपनों के साथ उसकी कोई अपोजिशन है ही नहीं के मुकाबले किए जाए ये उसकी रहमत के मजहर है और उसकी रहमत का अपने बंदों से इजहार होता है अब इनका दूसरा जो हमारा हिस्सा है मौजूद का उसको बयान करना है कि अपनों का काफी होना अल्लाह को पसंद है कि मेरे बंदे भी काफी हो जाते हैं और अल्लाह तला की दी तोफीक से होते हैं सबसे पहले यह आय सामने रखो वही युरीदू यखदऊ का फन हसबकल्ला अगर वो इरादा करें कि वो तुझे धोखा दें तो महबूब ये कह दो बेशक तुम्हारे लिए अल्लाह काफी है मेरे लिए अल्लाह काफी है ये कह दो अब यहां पर आगे जो आयत है अगर कुछ शख्स पढ़ ले तो उसके चौदह तबक रोशन हो जाए अल्लाह फरमाता हो लजी अयदा का बेनसर ही बिल मोमिनीन अल्लाह काफी है कि तस्वीर क्या है अल्लाह काफी है का मतलब क्या है किसी मुफसर की तफसीर से पहले खुद कुरान से तो पूछो जिसने ये कहा पइन हसबक अल्लाह तुम्हारे लिए अल्लाह काफी है साथ ही आयत है अगे हसबक अल्लाह के साथ वल्लजी अयदा कब नसर ही वबिल मोमिन अल्लाह काफी इसलिए है कि वो अल्लाह वो है जिसने महबूब तुम्हारी मदद अपनी मदद से भी की है और तुम्हारी मदद मोमिनों से भी करवाई है अय्यादा का बेनशरे ही वबिल मोमिन अय्यादा का रब वो है जिसने तुम्हारी तारीफ की रब वो है जिसने तुम्हारी हिमायत की किस तरह दो चीजों से बेनसरे ही बिल मोमिन अपनी मदद से भी और अपने मानने वालों से भी जिसने तुम्हारी तारीफ की दो चीजों के साथ बेनसरे ही अपनी नसर के साथ वबिल मोमिन अपनी मदद के साथ तो रब्जुल जलाल ने बयान कर दिया कि मेरे काफी होने का मतलब यह होता है कि मैं अपने बंदों से बंदों की मदद करवा देता हूं अल्लाह के काफी होने का मतलब अल्लाह के बंदों को ग्राउंड से निकालना नहीं है अल्लाह के काफी होने का मतलब अल्लाह की कुदरतों को जाहिर करना है कि वो चाहे तो बगैर सबब के मदद कर दे और चाहे तो सबब के साथ मदद कर दे तो खाल के कायनात ने इस आयत के माँ बाप फौरन जो नाजिल की है अयदा का बिनसर ही बबिल मोमिनी इसने साबित किया कि यहां पर अपनों को निकालना मकसूद नहीं है बल्कि अपनों को मनवाना मकसूद है यहां बाकायदा इमाम राजी रहमत ने सवाल उठाया है और बड़ा अजीब सवाल है कहने लगे अल्लाह ने मदद की दो किस्में बयान की इस आयत में जहां यह कहा कि काफी मैं हूं किस्में दो बयान की हो लजी अयदा का बेनस रही बबिल मोमिन कि अल्लाह ने मदद की तुम्हारी दो चीजों से भाव है ना दरमियान में जैद और अमर आए तो दो चीजें बेनसर ही बबिल मोमिनी अल्लाह ने मदद मदद की तुम्हारी तारीफ की अपनी नसर के साथ और मोमिन के साथ तो उन्होंने राजी कहने लगे जब अल्लाह की मदद आ जाए तो पीछे किसकी क्या जरूरत है तो लिहाजा मोमिन के जिक्र की तो कोई जरूरत ही नहीं वल्लिया का बिना श्री इतनी आयत काफी चाहिए थी बजाहिर कि जब अल्लाह की मदद का जिक्र हो गया तो काफी है अल्लाह की मदद अल्लाह की मदद के बाद क्या रह जाता मदद से सब कुछ हो जाता ऐसा नहीं है कि कोई शोभा फिर भी बचाओ और किसी मदद की जरूरत हो मेरे रब का कुल काफी है तो फिर रब्बेसुल जलाल ने मोमिनीन का तस्करा क्यों किया है यह हिकमत थी आज के इन भूले हुए गुमराह तो ही प्रस्तों के लिए कि कभी रब के बंदों को रब की मदद के खिलाफ ना समझना खाल के कायनात जल्ला जलाल ने अपनी मदद की दो किस्में बयान करती है यह जवाब इमाम राशि ने तफसीर से लिखा है कि अल्लाह की मदद दो तरह की होती है एक मदद वो है जो बगैर वास्ते की हो बगैर सबब की हो और एक मदद वो है जो असबाब के साथ हो तो खाल के कायनात जल्ला जलाल ने पहले मकाम पर जो पहले है लाइजाता का बेनसरे ही वहां पर अल्लाह ने उस मदद का जिक्र किया जो बगैर सबब के होती है और बिल मोमिन के साथ अल्लाह ने अपनी मदद का जिक्र किया जो सबब के साथ होती है यार दोनों मददें अल्लाह की हैं तो पता क्या चला कि अल्लाह के अलिया अल्लाह के अम्बिया अलहमसलम इनकी मदद जो है उसको गैर की मदद कोई ना कहे अल्लाह ही की मदद है और खाल के कायनात अल्लाह जलालू ने कुरान मजीद कुरान रशीद में अयदा का बिनसरी और बिल मोमिन कहकर दोनों मदद वाजे कर दी है कि मैं दो तरह की मदद करता हूं एक बगैर सबब के है दूसरी सबब के साथ है बगैर सबब के जो रब्बुल जलाल की मदद है ये वो है कि जो बरह रास्त खाल के कायरात की तरफ से आने वाली है ना उसमें फरिश्ते हैं ना उसमें कोई बंदा आता है ना कोई दूसरा आता है और दूसरी मदद वो है जो खाल के कायनात बंदों से बंदों की करवा देता है लिहाजा ये आयत खड़े होकर लेकर दुनिया के चौक में खड़े हो जा सूरज मगरब से निकल सकता है इस शायद का कोई जवाब नहीं दे सकता हसबकल्ला का माना रब ने किया कि मैं काफी हूं इस काफी होने के दो मतलब हैं कि मैं आप काफी हूं और मेरे फजल से मेरे बंदे भी तुम्हारे लिए काफी है बेनफल ही में अपनी किफायत का जिक्र किया है और बिल मोमिन में अपने बलियों की किफायत का तस्करा फरमाया है फिर देखिए ऐसे ही जिस वक्त सैयद आलम नूर मुजस्म शफी मुजम सल्लाह अलैहि आप सहाबा किराम रिजवान में माल गनीमत तकसीम करते हैं तो उस माल गनीमत के तकसीम का अंदाज यह था कि बिल्कुल मुसावात है बराबरी है लेकिन एक शख्स जिसका नाम जुल्खबैसरा था वो आ गया तवज्जो से सुनो जुल्खबैसरा आया और कहता ए दिल या मोहम्मद सल्लाह वसलम बुखारी शरीफ में है कि तुम अदालत करो इंसाफ करो तो मेरे नबी सलाम को बड़ा गुस्सा आ गया पर मैं या दिल इजालम दिल अगर मैं अदल नहीं करूंगा तो कौन करेगा हजरत उमर रजी अल्लाह तला ने तलवार पकड़ी महबूब मुझे इजाजत दो मैं इसका सर उतारू तो मेरे नबी सलाम फरमाने लगे नहीं लोग कहेंगे कि जो कलमा पड़े उसका भी सर उतारते हैं यह ज्यादा खतरनाक है इसने कलमा पड़ा है और अब इस वक्त अगर इसको कत्ल कर दिया जाए तो हमारे दीन को बदनाम करेगा कि कलमे वालों को कत्ल कर दिया उमर इसको कुछ देर छोड़ो अब यह शख्स जब इसने यह इल्जाम लगाया नबी सलाम पर के माल सही तकसीम नहीं हो रहा अल्लाह ने आयात नजर कर दी अमीन हम में जल मिलो का फिर सदाकात फैल ओ तो मिला रजू वही यो तो मिला इजाहम यस्कतीम पता कुछ बंदे वो है कि जो सदकात के बारे में नबी इस्लाम पे तनकीद करते हैं अगर उन्हें ज्यादा मिल जाए तो फिर राजी होते हैं और अगर थोड़ा मिले तो फिर गुस्से हो जाते हैं खाल के काया फरमा तवल्लो अन्नदू मां आता हमुल्ला व रसूल बिन फदली वकालू हसबुल्ला सयुद्दीन अल्लाह बिन फदली व रसूल इन्ना राहेबून ये आयत इस सिलसिले की आखिरी दलील है जिस वक्त एतराज हुआ था मुनाफिकीन की तरफ से जुल जुल्खवासरा की तरफ से नबी सलाम की तकसीम पर कि अदालत नहीं हुई तो अल्लाह ताला ने उस तकसीम की अदालत को जाहिर करने के लिए आयत नाजिल की और नबी सलाम के देने को अपना देना करार दे दिया क्या साबित किया कि मेरे महबूब की तकसीम पर एतराज करोगे तो मुझ पर हो जाएगा बनो अन्ना रदू मां आता हूं रसूल फदली प्रकाश काश के ये बंदे राजी हो जाते उस पर जो इनको दिया है अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने दिया था नबी सलाम ने क्योंकि दिलवाया अल्लाह ने असल हकीकत में मिलत उसका का तो दोनों का जिक्र आ गया पर अगर वो राजी होते इस बात पर जो दिया है उनको अल्लाह ताला ने और अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसवें पारे में तफसील के साथ हर के कायनात इसको वाजे किया फरमा अगर वो राजी हो जाते तो क्या होता साथ ये बोलते हसबुन अल्लाह हमारे लिए अल्लाह काफी है अब बड़ी बारीक बात है पीछे दो जातों का जिक्र है दिया दो ने है अल्लाह ने भी दिया अल्लाह ताला के नबी इस्लाम ने भी दिया लेकिन कहा किया गया हसबुन अल्लाह हमारे लिए अल्लाह काफी है तो पता चला कि सरकार दे फिर भी वो अल्लाह ही का है हसबुल्लाह में सरकार को निकालना मकसूद नहीं हसबुल्लाह जब दो का जिक्र पहले किया मां आताहमुल्लाह व रसूल हूं दिया है अल्लाह ने और दिया है अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों के देने को जिक्र करके हल्के कायनात फरमाता है अगर वो कहते हसबुल्लाह कि हमारे लिए अल्लाह काफी है तो फिर अल्लाह अपने पैगंबर से मजीद उनको दिलवा देता तो पता क्या चला कि असबुल अल्लाह के अंदर नबी सलाम की नफी नहीं है अगर नफी होती तो फिर कुरान मजीद में गलती आ जाती माजल्ला कि पीछे दो जातों का जिक्र है आगे सिर्फ अल्लाह के काफी होने का जिक्र हो रहा है तो खाल के कायनात ने समझाया है कि क्यामत तक इस आयत को मेरे महबूब के खिलाफ कोई ना पढ़े हमने तो अपने पैगंबर को अपने साथ मिला रखा है देने में उनका बैज ने जिक्र किया है मैं आता हूं अल्लाह व रसूल हूं दिया है अल्लाह ने और दिया है अल्लाह तला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वकालू और वो कहते हसबुल अल्लाह सयुद्दीन अल्लाह मिन फतल ही व रसूलो दरमियान में हसबुल अल्लाह है और पीछे दोनों तरफ बड़ा खूबसूरत मंजर है सेंटर में हसबुल अल्लाह और पहले क्या है अल्लाह और रसूलुल्लाह और पीछे भी है अल्लाह और रसूलुल्लाह सेंटर में हसबुल अल्लाह हमारे लिए अल्लाह काफी है आयत के आगाज में भी अल्लाह ताला ने अपने साथ नबी असलम का जिक्र किया कि वो भी देते हैं मैं भी देता हूं आयत के इख्ताम पर अपने साथ अपने नबी असलम का जिक्र किया वो भी देते हैं और मैं भी देता हूं और साथ में यह कहा हसबुल्ला तो क्या मत तक के लिए इसको साबित किया कि मेरे महबूब के खिलाफ ये आयतें ना पढ़ना मैं उनका जिक्र करके उनको अपने साथ किफायत में शामिल कर रहा हूं वलाउन्नाम रदूमा आता उमुल्ला व रसूल मिन फदली वकाल हसमुन अल्लाह सयोतीन अल्लाह मिन फदली व रसूल हो अल्लाह और रसूल का पहले भी जिक्र अल्लाह और रसूल का बाद में भी जिक्र दरमियान में हसबन अल्लाह तो पता चला कि हसबन अल्लाह का नारा ये हकीकत में अल्लाह और रसूल दोनों का नारा है ये खाल के कायनात जल्ला जलाल ने उसी आयत में दो बार आपने नबी इस्लाम का जिक्र करके ये समझाया कि मुनासिकों को इतराज नहीं करना चाहिए उन्हें हसबुल्ला कहना चाहिए और हसबुल्लाह के बाद उन्हें कहना चाहिए सयोती अल्लाह मिन फदल ही व रसूलो अभी अगली जंग होगी हमें अल्लाह भी देगा अल्लाह का रसूल भी अता फरमाएगा जिस आयत में रब्बे जुल जलाल ने दो बार अपने नबी अलैहिस्सलाम के देने का जिक्र किया हो उस आयत को पढ़ के कोई कहे कि वो कुछ नहीं देते और हसबन अल्लाह का यह माना करे कि नबी की तरफ ना जाना अल्लाह काफी है नबी की जरूरत नहीं है तो ये कुरान मजीद से कितना जुल्म है हल के कायलात जल्ला जलालू ने यहां पर पांच तरीकों से अपने महबूब सलाम की अजमत को जाहिर किया है सबसे पहले एतराज था नबी अलैहिस्सलाम की तकसीम पर तो अल्लाह ने फरमा ये तकसीम इनकी नहीं ये मेरी तकसीम है लिहाजा इन पर एतराज करने वाले सोचे एतराज मुझ पे कर रहे हैं फिर दूसरे नंबर पर देने की रिश्वत अल्लाह तला ने अपने तरफ भी की अपने नबी की तरफ भी तीसरे नंबर पर हासमन अल्लाह में अल्लाह ने अपने साथ अपने महबूब को शामिल किया चौथे नंबर पर हर के कायनात ने फरमाया फियोती अल्लाह मिन फजली व रसूलो कि फिर भी मुस्तकबिल के बारे में यह अकीदा होना चाहिए कि मुस्तकबिल में अल्लाह भी देगा अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम भी अता फरमाएंगे और पांचवें नंबर पर पर उन्हें कहना चाहिए था इन्ना इल्लाह रागबूल कि जब हाथ करेंगे सरकार के सामने आकर कि अब नई जंग हो गई है हमें कोई गनीमत दो तो बोलेंगे क्या कि हम अल्लाह के पास आए हैं इन इल्लाह रागबून इन्ना इल्लाह रागबून हम अल्लाह की तरफ रगबत करने वाले हैं तो खल के कायनात जलालू ने अपने नबी इस्लाम के दरवाजे को अपना दरवाजा करार दिया उनके दरबार को अपना दरबार करार दिया फरमा अगर मुनाफिक सोच लेते मान जाते कितना उनका फायदा हो जाता वो कहते हमें अल्लाह ने भी दिया अल्लाह के रसूल ने सलाम ने भी दिया अल्लाह हमारे लिए काफी है आगे मुस्तबिल में हमें अल्लाह भी देगा अल्लाह के रसूल भी देंगे और हम लेने के लिए अल्लाह के रसूल के पास जाएंगे मगर कहेंगे हम अल्लाह की तरफ गए हैं अब इस आयत करीमा से लफ्ज रसूल कौन निकाल सकता है हल के कायनात जलालू ने खुद उस लफज को शामिल किया है और बयान किया है देने की नस्बत दो बार उनकी तरफ की है और फिर उनकी तरफ रगबत को अपनी तरफ रगबत करार दिया है लिहाजा हसबुल अल्लाह कारगिल यह मतलब नहीं था कि इससे नबी अलैहिस्सलाम की नफी करना मकसूद हो इससे उन लोगों की नफी मकसूद थी जो कि प्रैश मक्का थे या उनके महबूब थे अल्लाह ने हर मकाम पर आयात को उनके खिलाफ नाजिल फरमाया है इस पर दो आयात मैंने पेश कर दी ई युरीदू अयदऊ का फाइन हसबकल्ला हुवल्लजी अयदा का बिनसरी वबिल मोमिनिन और यह दूसरी आयत अब तीसरी आयत सुनो कि नबी सलाम हो या सहाबा हो मोमिन हो उनको निकालना अल्लाह की मर्जी नहीं है किस तरह रब फरमाता या यूहन नबी हो हसबुकल्ला हो व बा का ए मेरे नबी तुम्हारे लिए अल्लाह भी काफी है तुम्हारे मानने वाले भी काफी है मनिक ताबा का तर्जमा भी देख लो ये दो तस्वीर वो क्या है अल मुहाजरून वल अंसार मनिक ताबा का माना कि मुहाजर और अंसार तो मतलब क्या है उन्होंने बाकायदा लफ्ज लिखे हसब कल मुहाजरून वल अंसार मेरे पैगंबर तुम्हारे लिए मैं भी काफी हूं और तुम्हारे लिए मुहाजर अंसार भी काफी है अब ये कुरान हर के कायनात जल्ला जलालू ने हस के साथ अपना जिक्र भी किया है और अपने बंदों का जिक्र भी किया है और इसमें यह बात पेश नजर है कि मेरे नबी सलाम इन बंदों की मदद के यूं मोहताज नहीं थे कि सरकार अकेले कुछ ना कर सकते होते जब हुनैन की लड़ाई में सारे लोग कदम उनके डगमगा गए थे और मेरे नबी सलाम अकेले खच्चर पे बैठे थे और खच्चर आगे बढ़ा रहे थे और अब्बास ने लगाम पकड़ी हुई थी और रोक रहे थे खच्चर को तो मेरे नबी इस्लाम ने फरमाया अनन नबी हो ला तलब अनब अब्दुल मुतलब चचा जरा पीछे हटाओ मैं अकेला इनके लिए काफी हूं मैं नबी हूं मैं तो झूठा तो नहीं हूं मैं अब्दुल मुतलब का बेटा हूं मैं इनके हिसाब पूरा कर लूंगा लिहाजा मेरे महबूब अगर हुनैन में यह नारा लगाते हैं और बदरे सुगरा पर यह कहते हैं लापुरजन वाहदी अगर कोई भी नहीं जाएगा मैं अकेला जाऊंगा अकेले निकलते उनकी एक मुठ्ठी की कंकरियों से सबके मुंह बंद हो जाते किसी की जरूरत नहीं थी लेकिन सहाबा को साथ लेके निकले हैं ताकि उनको मर्तबा भी मिले और क्या तक पता भी चले जिसके गुलामों की ये मदद हो उस इमाम की मदद का आलम क्या होगा सहाबा को साथ लिया अब वो लोग जो ये आयात बलियों के मुकाबले में पड़ रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए कि सारे कुरान के मफहूम पर वारदात कर रहे हैं वरना बदर के मौके पर जब नबी सलाम निकले थे शाहबा से मीटिंग हुई थी और सारे गिन चुन के तेरह सौ तीन सौ तेरह बने थे तो सरकार से शाहबा कह सकते थे कि आयात तो हमने आपसे सुनी है कि अल्लाह काफी है तो अल्लाह के होते हुए हमारी जरूरत क्या है हमें घर रहने दो ये कहना चाहिए था ना उनको इस मफहूम पर जो इन लोगों ने बनाया जिस पर इन्होंने आयात को फिट कर रखा है कि अल्लाह के काफी होने का मतलब यह है कि अल्लाह के सिवा कोई अपना हो या पराया हो सब निकाल दो तो फिर सहाबा को कहना चाहिए था महबूब हमारी जरूरत नहीं रही अल्लाह ने कहा मैं काफी हूं जहाज हम बदर में जाके नहीं लड़ेंगे अल्लाह काफी है ये सहाबा ने नहीं कहा बेदबी नहीं की निकले और सरकार ने साथ लिए और उनको वहां पे सरकार ने पहुंचाया है और ये बताया है कि अल्लाह ने जो कहा था मैं काफी हूं तो इसका मतलब यह था अबू जान के सहारे सारा दिन नहीं चलेगा इसका यह मतलब है कि वो बकर सिद्दीक के सहारे चलता रहेगा यह मतलब था गैरों को निकालना अपनों को जगह देना अकामोडेट करना उनकी शान को बयान करना और जाहिर करना यह कुरान की रूह है लेकिन मुजरिमों ने बिगाड़ के इसी कुरान को कहीं हजरत अली के खिलाफ पढ़ दिया कहीं हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तला के खिलाफ पढ़ दिया और कहीं महबूब इस्लाम के खिलाफ पढ़ दिया कि अल्लाह काफी का मतलब यह है कि बाकी किसी की कोई जरूरत नहीं नहीं ऐसी फिक्र बिल्कुल गलत फिक्र है अगर अहादीस देखोगे तो मेरे महबूब इस्लाम ने काफी के जुमरे में बहुत सी चीजों को बयान फरमाया है कुर्तबी में वह हदीस शरीफ है क्या हसबुब ने आदमा लुकईमातुल युकिम नसुलबाऊ वही हस्ब का लफज जो हसबुल्ला में है वही हस्ब का लफज नबी इस्लाम ने इस्तेमाल किया हसबुब ने आदम इबन आदम के लिए काफी है इतने आदम के लिए काफी है क्या मातुन चंद लुकमे युकिम न सुन पाऊ जिससे उसकी पुष्ट सीधी रहे इन पेट भर के खाना सही नहीं चंद लुकमे काफी है अब यहां पर लफ्ज हसब है वो जो कुरान में आया अब वहां पर है हसबुल्ला और यहां क्या है हसबुब ने आदम लुकैमात के बंदे के लिए रोटी के लुकमे काफी है अगर वो मफहूम लो जो लोगों ने लिया तो फिर कितना मतलब गलत बन जाएगा और अगर वो मफहूम लो जो हमने रहे हैं तो मतलब क्या है अल्लाह के काफी होने का मतलब यह है कि वो अपनी कुदरत से गंदम की रोटी को तकवीयत देता है और वो चंद लुकमे भी बंदा खा ले तो गुजारा हो जाता है अब नबी सलाम तो कहे रोटी का लुकमा भी काफी है और जाली उम्मती ये कहे कि नबी भी काफी नहीं तो कितना जमीन और आसमां का फर्क है हस बोपले आदम लुकामातन युकमना सोलवा फरमा बंदे के लिए चंद लुकमे काफी है हस्ब का लफज कोई हसबुन अल्लाह वाला वहां पर हस्ब मुजाफ है ना मुजाफिल है हसबो ना हमारे लिए और यहां से बुबले आदम आदम के बेटे के लिए काफी है सारे इंसानों का जिक्र कर दिया हस बुबले आदम इबले आदम के लिए काफी है लुकैमात चंद छोटे छोटे लुकमे लुकमा की तस्वीर है युकिम नसुल बहु जो उसकी पुष्ट को सीधा रखे यानी कुछ गुजारा चलता रहे तो अब यहां जिस वक्त नबी सलाम ने बयान किया तो क्या सहाबा ने शिरक के फतवे लगा के पैगंबर कल तक कहते तो अल्लाह काफी आज कहते तो रोटी भी काफी है सहाबा कराम ने इतराज नहीं किया क्योंकि सरकार ने समझाया था कि अल्लाह काफी है और रोटी में उसी की किफायत है अगरचे जिक्र रोटी का है मैं उसमें जो का ताकत है वो रब की है और सरकार ने फरमा रोटी के लुकमे तुम्हें काफी है अगर अल्लाह की कुदरत रोटी में हो तो रोटी को काफी मानना हराम नहीं है तो अल्लाह की कुदरत दाता में हो तो दाता को मुश्किल कुशा मानना भी हराम नहीं है वाज लफ्ज हसबुब ने आदम लुकैमात चंद लुकने काफी है अब इन्होंने सारे दरवाजे बंद कर दिए कि कोई किसी चीज का नाम ना लो अल्लाह काफी होने का मतलब यह है तो नबी सलाम फरमाते नहीं लुकमे भी काफी है तो पता चला कि जिस रब के लुकमों के अंदर उसकी पैदा करदा गंदम के अंदर उसकी कुदरत से ताकत आ जाए तो उनका काफी मानना यह किसी बिदती का अकीदा नहीं ये रसूलों के लीडर का अकीदा है ये अकायद मुसलिन का अकीदा है तो जब अल्लाह की कुदरत दानों में आ जाए तो उनको मान लेना यह कोई अजीब नहीं है तो अल्लाह की कुदरत ईमानों में आ जाए तो इसको मानना भी कोई अजीब नहीं है अगर कोई बंदा गंदम की रोटी की पावर माने तो शिरक नहीं बनता तो फिर हाजा अजमेरी की पावर मान जाए तो शिरक नहीं बनेगा इस वास्ते कि रबुल जलाल की कुदरत है वो जलवागर होती है तो हजरत मूसम के लकड़ी के असा में भी जान डाल देती है जिस रब की जलबे लकड़ी में जान डाल दे बंदों में जान डालना तो उसके लिए कोई वईद नहीं है फिर देखिए जिस वक्त मेरे महबूब ने हजरत अनस से कहा था बाबू मनाकिब अजवाज नबी सल्लम ये सिया के अंदर हजरत अनस से कहा था हसबो का मिन निसाइल आलमीन है अनस तुम्हारे लिए काफी है जमाने भर की औरतों में से ये चार इनकी अजमत तुम्हारे लिए काफी है शान देखनी औरतों की तो ये काफी है तुम्हारे लिए तुझे और किसी की शान को देखना कोई जरूरत नहीं है कौन कौन सी फरमा मरियम बिन तो इमरान वह खदीजा तो बिन तो खोलत वह फातिमा तो बिन तो मोहम्मद वासिया तो इमरत इमरान इमरत फिरान फरमाया चार औरतें हसबों का तुम्हारे लिए काफी है वही लफ्ज हसब जो कुरान में हसबुल्ला में है वहां ना की जगह काफ है काफ जमीर खिताब है हसबों का अनस तुम्हारे लिए काफी है सारी दुनिया की औरतों में से ये चार औरतें कि इनकी फजीलतें समझते जाओ और किसी की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अब हजरत अनस ने यह नहीं कहा कि उधर हसब नल्ला है और इधर हसब का निशा भी आ गया है कि औरतें भी काफी हैं ये मानना पड़ेगा कि जिस लुगत में कुरान उतरा है और जिस जुबान में साहब कुरान ने समझाया है अल्लाह के फजल से वही आज भी हमारे सीने में आया है लोग बस वो लकीर के फकीर बन के हसबुल्ला हसबुल्ला हर जगह पढ़ते हैं मंदिर में जाके पढ़ नहीं सकते गिरजे में जाके पढ़ नहीं सकते वो किसी सिख के सामने पढ़ नहीं सकते किसी ईसाई के सामने पढ़ नहीं सकते स्टिकर छापते हैं तो लाहौर में दाता साहब की दीवारों पर लगा आते हैं और स्टिकर छापते हैं तो वो बलियों की दहलीज पर लगा आते हैं और स्टिकर छापते हैं तो तोहीद परस्तों की मस्जिदों में जाके लगा आते हैं और ये बताते हैं कि कुरान कहता है हर्ष हम कहते हैं हम तुमसे पहले हसबन अल्लाह मानने वाले हैं हसबन अल्लाह और वली अल्लाह ये हमारा वो शुरू से दस्तूर आ रहा है कि खाल के कायनात ने हसब इस्तेमाल किया है मगर देखना पड़ेगा कि किन के मुखालिफ इस्तेमाल किया है और जिनके हक में इस्तेमाल फरमाया है लफ्ज किफायत पर भी थोड़ा सा सुन लो अलह सल्ला दिन काफिन अब्दा क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं है काफी है तो किसके मुकाबले में पर मैं हुबल लात मनात इनकी कोई जरूरत नहीं क्या कर सकते हैं अल्लाह काफी है इससे यह मतलब नहीं था कि खाल के कायनात आयत नाजर करके साहबा को कह रहा हो कि ज्यादा नबी को ना माना करो थोड़ा थोड़ा मानो मैं काफी हूं यह लोगों ने आज जो बना रखा आए आयतें मोटी मोटी लिखते अली सल्लाह काफी नब्दा क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं है हम कहते हैं काफी है तो उसने कहा था कुरान की मैं हिफाजत करूंगा तो अगर यह अकीदा है कि अल्लाह के काफी होने का मतलब है कि बाकी कोई नहीं कर सकता तो फिर हिफज के दरस बंद कर दो क्योंकि अल्लाह ने कहा था हिफाजत मैं करूंगा अल्लाह करे तो हो कौन सकता है कोई और करने के लिए आए इन्ना नहलू नजल्ला जिक्र व इन्ना नहूल हाफजून हमने कुरान नाजल किया हम हिफाजत करने वाले हैं तो इस लिहाज से तो अल्लाह वो बंदा जो हिफज कर रहे उसने शिरक किया कि अल्लाह के साथ सिफ्त में शरीक हो रहा अल्लाह भी हिफाजत करे ये भी हिफाजत करे तो इसने तो अल्लाह के शोबे में मुदाखलत शुरू कर दी लेकिन शिरक नहीं है मुदाखलत नहीं है बल्कि हाफिज अल्लाह का प्यारा है क्यों प्यारा है कि हिफाजत अल्लाह करता है करवाता अपने बंदों से है तो अगर यह शिरक नहीं है हालांकि अल्लाह ने तो बड़ा तकीब से कहा था इन्ना हम बेशक हम नाजिल करने वाले हैं हम हिफाजत करने वाले हैं लामे ताकीब भी हाफिजुन में तो इस मिसाल से अगर कोई समझ जाए तो उसका सारा ईमान सीधा हो सकता है कि कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया हिफाजत मैं करूंगा अब जो लोग हिफाजत करते हैं ये अल्लाह के मुखालिफ नहीं है उसके पसंदीदा इन्होंने समझा है कि अल्लाह की हिफाजत यह है कि वह अपने बंदों से करवा लेता है इस रास्ते जो वलियों की तरफ गया तो वो अल्लाह का नापसंदीदा नहीं पसंदीदा है कि अल्लाह ताला ने वाजह किया हसबुल्लाह ये कहो हमारे लिए अल्लाह काफी है काफी होने का मतलब ये होगा दो मदद या बरह करेगा या बिलवास्ता करेगा बरह भी करता है वास्ते का वो मोहताज नहीं हम मोहताज है और करता वो जरूर है जिस तरह बदर में फरिश्तों को भेजा मदद करने को भेजा कोई सैर करने को नहीं भेजा और मदद उन्होंने की है तो जिस वक्त बंदों की मदद और वसायल से मदद ये अल्लाह ही की मदद शुमार होती है तो जो वलियों की तरफ इस अकीदे से मुतवजह हुआ खुद पत्ता भी नहीं हिला सकते रब चाहे तो जमाना भी हिला सकते हैं तो इसने कोई नाजायज काम नहीं किया कुरान की तालीम पर अमल किया है काफी के लफज के लिहाज से आज सुनो जो इस मौकफ को वाजे करेगी काफी होने का मतलब क्या यही लफज इस्तेमाल हो इस तकूलिन अलई अयुमिदा कुम रबुकुम बेसलासत आलाफिम मुनजलीन महबूब वो वक़्त तो याद करो जब तुम अपने सिहाबा से कहते थे अलई यकुम रब्बुकुम क्या तुम्हारे लिए तुम्हारा रब काफी नहीं है क्या तुम्हारे लिए तुम्हारा रब काफी नहीं वही लफ्ज काफी जो अलई सल्लाह बेकाफ नाबदा में है वही यहां पर इस्तेमाल है जब तुम अपने गुलामों से कहते थे क्या अल्लाह तुम्हारे लिए काफी नहीं है किस तरह अयुमिदा कुम रब्बो कुम बेसलासती आलाफ कि अल्लाह यूं काफी हो जाए कि तीन हजार फरिश्ते भेज दे काफी अल्लाह हो भेजे फरिश्तों को कुरान तकून अलमोमिना अलैया कुम अयुमिदा कुम रब्बो कुम बेसलासत आलाफ क्या तुम्हारे लिए ये काफी नहीं है कि तुम्हारा रब तुम्हारी मदद तीन हजार फरिश्ते भेज के कर दे अब यहां पर काफी का लफज बोला गया किस पर फरिश्तों की मदद पर कि तीन हजार काफी है सियाबा और चाहते हो तो और मंगवा लेते हैं क्या तीन हजार काफी नहीं है वो किफायत रबेजुलजलाल की तरफ से जो होती है पता चला वो यूं भी होती है कि अपने बंदों को बंदों के लिए काफी कर देता है भेजा फरिश्तों को है और काफी का लफज बोला गया है और काफी अल्लाह के लिहाज से बोला गया है, है अल्लाह काफी मगर भेजा उसने फरिश्तों को है और बंदों से बंदों की मदद करवाई है अगर अल्लाह के काफी होने का यह मतलब था कि अल्लाह के बली दरमियान में नहीं आएंगे तो फिर फरिश्ते भी तो अल्लाह के बंदे अल्लाह नहीं है उनको भी दरमियान में नहीं आना चाहिए था अगर उनको लाकर भी अल्लाह ने उससे मदद करवा के भी कहा यह कि काफी मैं ही रहा हूं तो पता चला कि दाता साहब मदद करें काफी फिर भी अल्लाह ही है इनको निकालना काफी से अल्लाह का मकसूद नहीं है वो और है जिनको निकालना मकसूद था इस वास्ते फरमाया इस जूही रब्बू का मलाई का अन्नीमा तुम फसबतुल्लिन आमानू अल्लाह ने वाह की फरिश्तों को फरिश्तों मैं तुम्हारे साथ हूं तुम जाके मोमिनों के साथ खड़े हो जाओ अल्लाह डायरेक्ट भी कर सकता था लेकिन उसने कहा इनडायरेक्ट मदद भी होती है फरिश्तों को कहा मैं तुम्हारे साथ हूं तुम जाके साथ खड़े हो जाओ और मदद की बाकायदा तलवारें चलाते रहे तो पता चला कि अल्लाह ने जो झटका दे के कहा अलई सल्लाह नब्दा उससे मुराद यह कि अल्लाह को छोड़ के कहीं उबल के पास ना जाओ और तो, तो यह मतलब नहीं है कि अल्लाह के महबूब के पास भी ना जाओ और उनकी तहरीर पर भी ना जाओ यह जुल्म है कि हुबल वाली आयतें इन्होंने गुम्बद खजरा के बारे में पढ़ी हुमर वाली आयात इन्होंने बलियों के बारे में पढ़ी लात मनात वाली आयात जो है इन्होंने पैगंबरों के बारे में पढ़ी अगर ऐसा है तो फिर पुराने मजीद कुरान कैसे रह सकता है पुराने मजीद ने तो खुद अपने अंबिया अपने औलिया अल्लाह के नेक बंदों को अल्लाह की मदद का हिस्सा करार दिया है अब हदीस शरीफ इस पर सुनिए सैयद आलम नूर मुजस्म शफी मुजम सल्ला आपके पास जिस वक्त गुस्ताख का मामला आया था आज शुभ तफसील से बात हुई है इस मौजूद पर मुसन्फ अब्दुल रजाक की हदीस शरीफ है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तरावी है कि एक शख्स ने नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी कर दी तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया क्या ऐलान था मैं यकफी यदुबी कौन है जो इसके मुकाबले में मेरे लिए काफी हो लफ्ज देखो हदीस के मुसन्फ अब्दुल रजाक जिल्द नंबर चार मेरे नबी सलाम ने साहबा के तरफ चरा करके फरमाया यह मेरा दुश्मन है इसने मुझे गाली दी है मैं यकीन यदूरी तुम तो में से कौन है कि जो मेरे लिए इसके मुकाबले में काफी हो जाए मैं नहीं कौन कफायत करेगा काफी होने का मतलब यह है उठे इसको दूसरा सांस ना लेने दे सार उतारे इसका मैं यकीनी कफा यकी काफन इसी से इसमें फायल बनता है मैं यकीनी अदूबी तुम में से कौन है जो मेरे लिए काफी हो तो अगर यह मतलब होता आयत का कि सिहाबा को निकालना मकसद है तो सिहाबा कहते महबूब यह तो जुमला बोलना सही नहीं जो आप बोल रहे हैं आपके लिए तो अल्लाह का दिया हमारी जरूरत क्या है सिहाबा को कहना चाहिए था कि रब तो फरमा चुका है ना कल मुस्ताजीन पैगंबर जो तुम्हारे साथ मजाक करते हैं उनसे मैं निबट लूंगा आया था अल्लाह कि मैं काफी हूं जब अल्लाह यह कह चुका है मैं काफी हूं तो फिर शाबा को तो कहना तुम में से कौन काफी है इसका मतलब क्या बना जो कुरान से हमने समझा कि अल्लाह के काफी होने का मतलब यह होता है कभी बगैर वसीले के वो काफी है और कभी अपने बंदों को महबूब के गुलामों को महबूब के लिए काफी बना देता है वरना यह जुमला शिरकिया होना चाहिए समाज अल्लाह जब नबी फरमा रहे थे मैं यकसी नहीं मेरे लिए कौन काफी होगा कौन किफायत करेगा जो इस गुस्ताख के मुकाबले में पूरा उतरे इससे मार ना खाए बल्कि मारे इसको इसको कत्ल करे कौन होगा जो काफी है मेरे लिए अब सरकार ने सहाबी को काफी समझा कि सहाबा में से बाद मेरे लिए काफी है यह लफज बोला और सहाबा ने भी जवाब में तनकीद नहीं की बल्कि इसको कबूल किया फकाल जुबैर आना हजरत जुबैर ने कहा मैं काफी हूं नबी इस्लाम ने फरमाया इसके मुकाबले में कौन काफी है हजरत जुबैर ने कहा मैं काफी हूं फरमाया ठीक है उठो हजरत जुबैर ने तलवार मारी और सर उतारा और फरमाया ये है अल्लाह के बंदे जो बंदों के लिए काफी होते हैं हदीस में नहीं यकीन हुई कौन कफायत करेगा और ये याद रखना ये भी एजाज देना था इन लोगों को वरना मेरे नबी सलाम अल्लाह के फजल से इनकी तलवारों के मोहताज नहीं थे वो तनहा जिस वक्त काबा के पास निवास पढ़ रहे थे और गुलाम पास नहीं थे अबू जाल पूरी पलानिंग से आया था कि आज मैं सर पे पत्थर मारूंगा जब आगे बढ़ा तो मुंह के बल गिरा और कहने लगा लगा है तो कोई चीज मुझे जला रही है और ये पैगंबर तो इसके इतने बड़े बड़े हाथ हैं अगर एक तमाचा मुझे मार देता मेरी जान निकल जाती जिनकी रोह से अल्लाह ने मदद कर दी है उन्हें जरूरत किसी की नहीं थी हकीकी तौर पर मगर हमतें होती हैं कि जो जान बारने के लिए तुल जाएगा अगर उसको भी तो अजर मिलेगा उसको आशिक होने का सवाब मिलेगा और जो मैं कहूंगा कौन है उठता है मेरे दुश्मन का सर उतारने के लिए तो जो पेश करेगा कलाशकों के साथ में सर ऊंचा करके खड़ा होगा इस वास्ते नबी सलाम ने पूछा मैं डी कफा यकफी कौन है जो मेरे लिए काफी हो इसके मुकाबले में तो हो गया काफी हजरत जुबैर रबी अल्लाह तला ने कहा आना मैं काफी हूं निकले हैं और उन्होंने काम पूरा करके दिखा दिया है ऐसे मुसनफ अब्दुल रजाक में यह हदीस शरीफ भी है कि जिस वक्त तो एक औरत ने नबी असलम की गुस्ताखी की तो इस पर भी मेरे नबी असलम ने सहाबा में यह कह दिया मैं यकीनी अदूबी कौन है जो मेरे दुश्मन के मुकाबले में मेरे लिए काफी हो जाए फकाल खालिद उबन वलीद आना अब हजरत खालिद ने कहा मैं काफी हूं हजरत खालिद मैं काफी हूं अब यह तोहीद परस्त है और तोहीद वहां बैठ के उन्होंने पढ़ी है जहां वक्त रिश्तों के मेले लगे रहते हैं वो सुफा पे बैठ के तो ईद पढ़ने वाले उनको पता है तो ईद क्या है आज के जंगली दतूरे नाम ईद का लेते हैं और धंधे शिरक के करते हैं वो सुफा पे बैठ के तोहीद पढ़ने वाले जब सरकार ने कहा था कौन काफी है उन्हें पता था एक काफी का मतलब होता अल्लाह के लिहाज से और एक होता अल्लाह के बंदों के लिहाज से फरत खालिद ने लब्बैक कहा आना या रसूल आज मैं काफी हूं उठे तलवार ली और औरत का सर उतारा और साबित किया कि पैगंबर के दीवाने भी काफी होते हैं यह दीन मतीन है कितना बुग्स है उन लोगों के दिलों में कि कुरान मजीद की आयात बुतों वाली और वो काफरों वाली उनको मोड़ मोड़ के नबी अलैहिस्सलाम पर लाना चाहते हैं और औलिया पर लाना चाहते हैं ये बहुत बड़ा इस जमाने का अलमिया है हमने ये बात इसलिए की है कि जहां तक ये आवाज पहुंचे इस जुल्म को खत्म किया जाए जो तोहीद के नाम पर वारदात की जा रही है कुरान के नाम पर वारदात की जा रही है और तालीम दीन के नाम पर वारदात की जा रही है बलियों के साथ बुगज या के साथ अंबिया किराम सलाब के साथ बुगज और ये पुराने मजीद की तालीमत को बिगाड़ना उन लोगों का एक वतीरा बन चुका है जबकि हम पुराने मजीद से हमने इस बात को साबित किया अल्लाह के फजल से और इस वसूख के साथ ये निया के साबित करके छोड़ दिया है इंशाल्लाह इस बात पर पैरा देने वाले हैं दुनिया के किसी कोने में अगर इसको कोई चैलेंज करेगा हम अपने दलाल के पहाड़ उस पर उतार देंगे इंशाला तबारक ये कुरान मजीद के अंदर काफी होने हस्ब का इस्तेमाल और काफी होने का मतलब ये मैंने इख्तिसार के साथ नवी की इस मफहूम की वो बयान कर दी है अगर जिंदगी ने वफा की इंशाला बाकी बहुत सी अकसात है और ये सिलसिला चलता जाएगा आज हम अपने फाम दीन कोर्स के लिहाज से बड़े अहम मरहले में दाखिल हो गए हैं यानी मौजूद बिल्कुल थोड़े रह गए हैं और दिन थोड़े रह गए हैं और ये बहार जल्द ही खत्म होने वाली है फिर जो है वो ढूंढते रहेंगे लोग और तलाश करते रहेंगे कि काश दोबारा फाम दीन का वो नूर भरा प्रोग्राम हो और हमें जाने की सादत मिले मगर यह जमाना बड़ा अजीब है अगर तू नहीं था शरीक माफिल तो कसूर तेरा है या ये मेरा मेरा तरीका नहीं कि रखूं किसी की खातिर मैं शबाना जमाना हर एक से कहता है कि अगर तुम नहीं आए थे तो, तो इसमें तुम्हारा कसूर है मेरा कसूर नहीं है मेरा यह कानून नहीं कि रात की मैं सुबह के लिए संभाल के किसी को रखूं जो आता है पीता है जो नहीं आता वो घर बैठा सोता है लिहाजा उसके चंद दिन पीछे रह गए हैं और ये सिलसिला अपने उरूज की तरफ इंशाला जा रहा है कल इंशाला सुबह जो हमारा मौजू है वो बड़ा अहम मौजू है तरबियत औलाद का मौजू क्योंकि हमारा मुस्तबिल सारा यंग जनरेशन पर मकूफ है और उनकी तरबियत का मामला कुरान सुन्नत की रोशनी में ये इंशाला कल इस पर बास होगी और परसों एक ऐसा मार्कतुल आरा फिक्री मौजू है कि जो लोगों ने अपने सारे मसल की बुनियाद बनाए रखी है ऐसे ऐसे सवाल उन्होंने बनाए हुए हैं इंशाला हम उन सवालों के जवाब देकर कहेंगे कि ये रेत के गरौंदे थे ये कोई सवाल नहीं थे तो तकलीफ के मौजू पर तकलीफ के मौजू पर जो लोगों की शुभात हैं और उन्होंने उनको बड़ा अपनी तरफ से एक ऐसा सिलसिला करार दिया है कि इन सवालों का कोई जवाब नहीं दे सकता इन मजमा आम के अंदर हर हर सवाल का जवाब वहां पे तकलीफ के मौजूद पर दिया जाएगा ये अतवार के दिन तफसीली प्रोग्राम होने वाला है आप हजरा से शिरकत की अपील की जाती है वाखिर दावाना अलहमदिल्ला